नमस्कार मित्रों ये वीडियो तीन टॉपिक पे है कि जूरी सिस्टम इंजीनियरिंग इम्प्रूव करने के लिए क्यों एसेंशियल है मतलब यदि जूरी सिस्टम नहीं है तो इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगी पर कैसे कि विदेशी कंपनी आके यहाँ पे प्लांट लगाएगी टेक्नोलॉजी चलाएगी और उससे इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगी पर कोर इंजीनियरिंग रिसर्च जो है वो जूरी सिस्टम के बिना नहीं इम्प्रूव हो सकता लोकल मतलब जो 100 परसेंट इंडियन चला रहे हो ऐसा क्यों वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है दूसरा टॉपिक है कि मिलिट्री इम्प्रूव करने के लिए क्यों इंजीनियरिंग एसेंशियल है यानी टॉपिक दो को कंबाइन करो तो क्या होगा कि मिलिट्री इम्प्रूव करने के लिए क्यों ज्यूरी सिस्टम जरूरी है क्योंकि ज्यूरी सिस्टम होगी तो इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगा तो ही हमारी सेना इम्प्रूव होगी और तीसरा टॉपिक कि मिलिट्री इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं तो जो तीसरा टॉपिक है मैं शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि दूसरे वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक तो चीन की सेना दिन-ब-दिन मजबूत होती जा रही है उसके तो हमने बहुत सारे परिणाम भी देख लिए मार्च महीने का मेरा वीडियो था मार्च 2013 का उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था और ये अप्रैल महीने में तो हमें साक्षात प्रमाण मिल गया कि अभी भी चीन है वो भारत की सीमा के पांच किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है वहां उसने सड़क बनाई है वहां उसने थाने लगाए हैं यानी हमारी सीमा के बाहर नहीं निकला क्योंकि चीन की सेना ज्यादा मजबूत है और भारत की सरकार अभी लड़ नहीं सकती चीन के सामने और दूसरी जो समस्या है वो उससे भी बड़ी है वो है अमेरिका का संभवित आक्रमण मतलब वो इतनी गंभीर समस्या है कि अमेरिका के आक्रमण की संभावना होगी तो हम शायद लड़े बिना घुटने टेक दे लड़े बिना ही गुलाम हो जाए ये परिस्थिति भी आ सकती है और वो दोनों कनेक्टेड है चीन और अमेरिका का कैसे कि अभी चीन अटैक नहीं करेगा क्योंकि अभी अमेरिका अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसे चीन खत्म करना है लेकिन जिस दिन चीन खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन उसको भारत की कोई जरूरत नहीं रहेगी तो जैसे ही चीन खत्म हो जाएगा दूसरे दिन अमेरिका भारत को खत्म कर देगा जैसे एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका ने इराक पे 1990 से पहले युद्ध नहीं किया क्यों युद्ध नहीं किया अमेरिका तो इतना मजबूत था कि चाहता तो 1980 में पूरा इराक हड़प कर सकता था लेकिन 1980 में सोवियत यूनियन काफी मजबूत था यूएसएसआर रूस रशिया काफी मजबूत था मतलब यदि 1980 में अमेरिका ने यदि इराक पर हमला किया होता तो सोवियत यूनियन बड़ी मात्रा में इराक की सेना को इराक के नागरिकों को हथियार भेजता तो लाखों अमेरिकन सैनिक मारे जाते इसलिए अमेरिका ने 1980 में इराक पर हमला नहीं किया पर 1989 में 1990 में सोवियत यूनियन बिखर गया टूट गया और उसके कुछ एक महीनों के बाद तुरंत ये मतलब कमजोर हो गया बिखर तो बाद में गया था पर वो काफी कमजोर हो गया था और कमज़ोर जैसे ही सोवियत यूनियन बहुत हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गया आ, अमेरिका ने देखा कि अब इराक का अब सोवियत यूनियन इराक की मदद नहीं कर सकता इसलिए उसने इराक पे हमला कर दिया और पूरा इराक उसने गुलाम बना दिया उसका तेल सारा लूट लिया और लीबिया के साथ भी वही हुआ कि लीबिया पे भी अमेरिका आज से 20-25 साल पहले हमला नहीं करता क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन बहुत मजबूत था आज वही परिस्थिति है कि अमेरिका भारत को क्यों 100 परसेंट गुलाम नहीं बना रहा क्योंकि वो देखता है कि चीन अभी मजबूत है चीन ने यदि बड़े पैमाने पर भारतीयों की मदद की तो अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है और दूसरा अमेरिका चाहता है कि भारत का उपयोग चीन को खत्म करने के लिए हो कोई भी प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी हो या उसके बाद अभी चिदम्बरम प्रधानमंत्री मतलब 2014 में जो भी आए उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके प्रेशराइज करके भारत की सेना का हम्म, चीन के सामने बड़े पैमाने पे उपयोग हो पर वो काम हमें करना पड़े देखो हमें चीन के साथ लड़ना पड़ेगा तो लड़ना ही पड़ेगा उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते पर हमें अमेरिका की मदद क्यों नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हम यदि अमेरिका पे डिपेंड हो जाते हैं तो चीन भारत के युद्ध के बाद जब भारत अमेरिका के युद्ध की बारी आएगी तब हम खत्म हो जाएंगे जैसे कि मान लो हमने अमेरिका की कंपनी को भारत बुलाया और उनको कहा कि हथियारों का उत्पादन करो उन्होंने हथियारों का उत्पादन किया लेकिन हथियारों की डिजाइन उनके पास है क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे नहीं बनते अमेरिका में बनते हैं तो जिस दिन भारत और अमेरिका का युद्ध होगा उस दिन वो स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे वो पूरा का पूरा हथियार म्यूजियम बन जाएगा मतलब रद्दी बन जाएगा तो इसलिए हमें खुद भारत में बड़े पैमाने पर हथियार उत्पादन करने की जरूरत है जो कि made in India 100 made in India और 100 मेड बाय इंडियंस वो सेकंड पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो कुछ ये एंथनी और डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या पेतरे रच रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका की कंपनियों को भारत में बुला के उनको कहेंगे कि हथियारों का उत्पादन करो तो कागज पे हो गया उस वेपन पे वो मेड इन इंडिया हो गया पर वो मेड बाय इंडियंस नहीं है मेड बाय इंडियंस इसलिए नहीं है क्योंकि उसका पूरा क्रिटिकल कंपोनेंट है वो तो अमेरिका से बन के आ रहा है जैसे कि ये मोबाइल फोन है मान लो नोकिया कंपनी है वो मद्रास में असेंबल करती है तो लीगली वो लिख सकते हैं मेड इन इंडिया पर वो मेड इन इंडिया क्यों नहीं है कि उसका जो पूरा अंदर का पार्ट है वो नोकिया है वो चीन या ताइवान या कोरिया कहीं से भी जाके वहां से बनवा के लाती है तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करें और हथियार है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग वर्क है मोबाइल फोन जितना कॉम्प्लिकेटेड है कंप्यूटर जितना कॉम्प्लिकेटेड है उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हथियारों के अंदर है हथियारों के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा चाहिए हर तरह के इंजीनियरिंग A प्लस क्वालिटी का चाहिए तो बात आती है कि इंजीनियरिंग का विकास कैसे हो और इंजीनियरिंग के विकास के लिए क्यों ज्यूरी सिस्टम बहुत ही जरूरी है तो ये मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में मैं उसी चीज को विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा कि ज्यूरी सिस्टम के अभाव में और जज सिस्टम की वजह से कैसे इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है या तो कमजोर पड़ जाता है कि कंपनियों को आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन में करता हूं दो तरह की कंपनियां देखो जिसमें एक मालिक है उसके नीचे 30 40 50 लेबर है इंजीनियर है जो भी है लेकिन 30 40 50 का स्टाफ है लेबर टेक्नीशियन इंजीनियर सब मिला के और दूसरा एक कंपनी मान लो 500 की हो 5000 की हो 50000 की हो तो जिस में 50 एम्प्लॉई है 60 एम्प्लॉई है मैक्सिमम 100 एम्प्लॉई है उसका जो ओनर है वो लेबर के क्लोज होता है लेबर को देखता है थोड़ा बहुत लेबर वो खुद भी कर रहा होता है कर सकता है चाहे तो इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव की जाए प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव की जाए उसमें ओनर टेक्निकल कंट्रीब्यूशन दे सकता है जिस कंपनी में 550,000 एम्प्लॉय है वहां पे ओनर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने बढ़ाने के लिए खुद टेक्निकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि इतने सारे लोगों को उसको मैनेज करना है साथ में उसको सेल्स देखना है साथ में उसको लीगल एस्पेक्ट देखना है और आदमी के दिन में 24 घंटे ही होते हैं हर एक काम तो वो खुद नहीं करता तो लार्ज कंपनी का ओनर मैं ऐसा नहीं कहता कि लार्ज कंपनी के ओनर सारे में होते हैं चोर बदमाश होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है लार्ज कंपनी का मालिक होना बड़ी कंपनी का मालिक होना कोई क्राइम नहीं है वो भी एक प्लस पॉइंट है मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूं मटेरियल डिफरेंस बता रहा हूं कि स्मॉल कंपनी का ओनर है वो टेक्निकल इनोवेशन बना सकता है उसको डेवलप कर सकता है उसमें टाइम दे सकता है जो लार्ज कंपनी का ओनर है वो टेक्निकल इनोवेशन के पीछे न अपना ज्यादा टाइम दे सकता है और न वो उसको ज्यादा डेवलप करता है टेक्निकल इनोवेशन क्या हुआ ऐसा इनोवेशन जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि जो लेबर पहले 10 घंटे में एक काम करने में लगाता था अब काम करने का तरीका बदला प्रोडक्टिविटी बदली वही काम वो पांच घंटे के अंदर करता है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं या तो प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ उसकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई कि पहले एक प्रोडक्ट था जो कि एक फुट से नीचे फेंको टूट जाता था अब वो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो गई कि तीन फुट से ऊपर नीचे गिरता है तो भी वो टिक जाता है जल्दी खराब नहीं होता तो अब बिजनेस के अंदर हर एक कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस हड़पने की कोशिश करती है ये कोई नई बात नहीं ऐसा नहीं है कि आज की बात है ऐसा नहीं है कि ये भारत में होता है पूरी दुनिया के हर एक देश में होता है हर एक प्रोड्यूसर है वो दूसरे प्रोड्यूसर का बिजनेस हड़प करने की कोशिश करता है और वो सारे हथकंडे अजमाएगा नैतिक अनैतिक उचित अनुचित कानूनी गैर जितने जिसमें से वो बच के निकल सकता है यदि कानून व्यवस्था मजबूत है तो वो गैर कानूनी काम नहीं करेगा क्योंकि देखेगा कि इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा मेरा घाटा ज्यादा है कानूनी व्यवस्था कमजोर है तो वो गलत वो गैर कानूनी तरीके भी अपनाएगा <coughs> तो यदि आप यदि हम कार्यकर्ता हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें ऐसी कानून व्यवस्था और ऐसी अदालतें बनानी पड़ेगी कि एक व्यापारी जितना काम कर या एक फैक्ट्री चलाने वाला जितना काम करना हो कर सके पर वो किसी का गलत तरीके से धंधा ना हड़प सके सही तरीके से धंधा हड़पना क्या हुआ कि मान लो मैं कोई चीज सौ रुपए बनाता हूं आपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी आपकी चीज नब्बे रुपए की है तो आप मेरा धंधा हड़प लोगे तो वो तो फेयर है क्योंकि इसमें देश को फायदा हुआ जो सौ रुपए की चीज थी अब कंज्यूमर को नब्बे रुपए में मिल रही है लेकिन गलत तरीके से धंधा हड़पना क्या हुआ कि मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ आप फैक्ट्री चला रहे हो मैंने किसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को पैसा दिया उसने आपकी फैक्ट्री में आके बंद करा दी फैक्ट्री अब जो पोल्यूशन आप कर रहे थे वो मेरी फैक्ट्री भी कर रही है गांव की सारी फैक्ट्रियां कर रही हैं हमारे खिलाफ कोई नोटिस नहीं आया आपके खिलाफ नोटिस आके फैक्ट्री बंद करा दी तो आपका धंधा बंद हो गया वो धंधा मुझे मिलेगा तो वो गलत तरीके से मैंने धंधा हड़पा और इसमें देश को नुकसान हुआ क्योंकि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को जो भी मैंने पैसा दिया वो देशा पर ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई और पोल्यूशन तो कम हुआ नहीं जो पोल्यूशन आप कर रहे थे वो मैं भी कर रहा हूं तो गलत तरीके से बिजनेस हड़पने का के अपॉर्चुनिटी सिस्टम के अंदर जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए सिस्टम यदि अपॉर्चुनिटी देकर देगा तो उस अपॉर्चुनिटी को वसूलने के लिए लोग कहीं ना कहीं से कहीं से आ ही जाएंगे यदि सिस्टम गलत अपॉर्चुनिटी देगा तो बड़ी संख्या में लोग गलत काम करेंगे यदि सिस्टम सही अपॉर्चुनिटी दे रहा है और गलत अपॉर्चुनिटी सारी एक के बाद एक के बाद बंद कर रहा है या कम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जिनको पैसा कमाना है वो सही रास्ते पे जाएंगे तो कौन-कौन से गलत रास्ते हैं कि जिसके द्वारा एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का धंधा हड़प कर सकती है और यहाँ पे जस्ट सिस्टम जूरी सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करती है कैसे है कि मान लो मेरी कंपनी बड़ी है मेरे पास 50,000 एम्प्लॉय है तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि लेबर से मेरा कोई मैं लेबर पे डायरेक्ट सुपरविजन नहीं कर सकता आपके 50 लोगों की कंपनी है आप लेबर पे डायरेक्ट सुपरविजन करते हो डायरेक्ट सुपरविजन करते हो इससे क्वालिटी अच्छी आती है प्रोडक्ट की और कम कॉस्ट पे आता है मेरे अंडर पचास आदमी काम कर रहे हैं तो मुझे उनपे सुपरवाइजर रखने पड़ते हैं चेन रखनी पड़ती है सुपरवाइजर है वो उतने होशियारी से सुपरवाइज नहीं करेगा जितना कि ओनर करता है हमेशा किसी भी मैं जनरल बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि सारे लेबर में होते हैं सारे मैनेजर में होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन ओनर का जितना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में प्रोडक्ट इंप्रूव करने में जितना इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट लेबर और मैनेजर का नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि यदि प्रोडक्टिविटी कम इंप्रूव होती है तो प्रॉफिट सीधा किसका बढ़ा ओनर का बढ़ा लेबर की सैलरी हो सकता है पांच दस बीस परसेंट बढ़ जाए पर कोई ओनर है उसकी लेबर की सैलरी डबल नहीं करने वाला मैनेजर की सैलरी डबल नहीं करने वाला दूसरा प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है तो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम अच्छा हो गया कंपनी का ब्रांड नेम अच्छा हो गया लेकिन ब्रांड नेम का फायदा किसको मिलेगा ओनर को मिलेगा लेबर तो आज है हो सकता है दो साल बाद कहीं और नौकरी कर रहा हो कंपनी की ब्रांड नेम का उसको फायदा नहीं मिलने वाला तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी सबका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ओनर का होता है ऐसा नहीं है कि लेबर का नहीं होता कुछ लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है वो काम करते हैं पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ओनर का होता है अब जो मैंने एग्जांपल दिया कि मेरी 50,000 की फैक्ट्री है तो मुझे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा वो स्टाफ अपना चेकिंग करेगा डबल कुछ जगह में जो प्रोसेस का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा तो पहले तो मुझे एक प्रोसेस बिठानी पड़ेगी तो वहीं मेरा खर्चा बढ़ गया प्रोसेस बिठाने का फिर प्रोसेस को मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा मुझे एक पूरा टेस्टिंग का डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाहिर बढ़ जाएगी अब यदि पर दूसरा बेनिफिट है मुझे स्केल ऑफ इकोनॉमी का कि अब मेरी फैक्ट्री लाखों मीटर का कपड़ा उत्पादन कर सकती है आपकी फैक्ट्री नहीं कर सकती क्योंकि साइज में छोटी है तो जो स्केल का एडवांटेज मुझे मिलेगा लेकिन कुछ एक एडवांटेज आपको मिलेंगे और मार्केट में हम कंपटीशन करते रहेंगे कुछ बिजनेस मुझे मिलेगा कुछ बिजनेस आपको मिलेगा अब सिस्टम ने ऐसे तरीके रखे सिस्टम के अंदर मान लो ऐसे तरीके हैं कि मैं रिश्वतखोरी के द्वारा आपका धंधा बंद करा दूं तो अधिकतर केस में बड़ी कंपनियों के मालिक ऐसा काम करेंगे कैसे करेंगे उनके काम करने के तरीकों को हमें रोकना पड़ेगा देखो कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि सबके मोरल वैल्यू सुधार दो तो मेरे मोरल वैल्यू अच्छा हो जाएगा मैं आपका गलत काम नहीं करूंगा पर वो बात एकदम बकवास बात है मैं उसको फिलॉसफी की बात भी नहीं कहूंगा वो सर से पांव तक बकवास बातें हैं और क्या तुम्हारे पास कोई इंजेक्शन है कि मुझे चार इंजेक्शन का कोर्स दोगे और मेरे मोरल वैल्यू सुधर जाएंगे मेरा जो मैं मैं जो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कार्यकर्ताओं को आप रिक्वेस्ट कर, कार्यकर्ताओं को ये करूंगा कि आप सिस्टम सुधारने की कोशिश करो कि जिससे ऐसे गलत काम करने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाए और साथ में काम रुकना नहीं चाहिए दोनों है ना मेरी फैक्ट्री गलत तरीके से रुके ना आपको ना छोटे एम्प्लॉयर की फैक्ट्री गलत तरीके से रुके काम दोनों का होता रहे पर मेरे पास गलत तरीके जो है आपका धंधा हड़पने का आपकी फैक्ट्री बंद कराने के वो खत्म हो जाए पहला तरीका क्या है कि मैं सांसदों को रिश्वत देके ऐसे कानून बना दूंगा कि तुम्हारी फैक्ट्री चलानी मुश्किल हो जाएगी मुझे नुकसान जाएगा लेकिन बहुत थोड़ा नुकसान जाएगा जैसे मैं एग्जांपल दूं कि लोकल बॉडी टैक्स है महाराष्ट्र का वो ऐसा उठपटांग कानून है कि यदि मैं सुपरमार्केट और मॉल लेके बैठा हूं तो थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे होगी पर मैं एक आदमी हायर कर लूंगा जो कि पूरे दिन लोकल बॉडी टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसके चक्कर काट के मेरा पेपर वर्क कर देगा तो मुझे घाटा क्या हुआ कि मेरे 200 लोगों का स्टाफ है मुझे दो स्टाफ और रखना पड़ा लेकिन कोई छोटा व्यापारी है छोटा उद्योगपति है किराने का दुकानदार समझ लो या तो कोई छोटा मोटा ट्रेडर है उसके पास तो एक या एक आदमी का भी स्टाफ नहीं होगा अधिकतर काम तो वो खुद ही करते हैं या उनका एक आध दो फैमिली मेंबर पार्ट टाइम काम करते हैं उसकी हालत खराब हो गई उसका कोई ट्रक आ रहा है वो चुंगी नाक पे रुक गया अब उसको ट्रक छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा अपना ताला लगा के तो वो उसका धंधा उस उसके लिए एक आदमी का स्टाफ रखना या एक एजेंट रखना वो उसके उसकी पूरे बिजनेस है वो डिस्टर्ब कर देगा अब लोकल बॉडी टैक्स से जितना पैसा आ सकता था वो वेट से भी आ सकता है वेल टैक्स भी आ सकता है उसमें दोनों में से किसी का टाइम नहीं बिगड़ेगा लेकिन मैंने जानबूझ के एमपी एमएलए वगैरह को रिश्वत दे के ऐसा कानून बनवाया कि जिससे आपकी गाड़ी बंद हो जाए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ वैट का कानून सर्विस टैक्स का कानून यदि सरकार को टैक्स के लिए पैसा चाहिए तो उससे डबल पैसा वेल टैक्स से आता है पर वेल टैक्स नहीं डाल रही सरकार वो सर्विस टैक्स डाल रही है ये वैट डाल रही है फिर एक्साइज एक्साइज में भी अफसर के पास पावर है कि किसी दिन मेरे घर आके और फैक्ट्री में आके कह सके कि ये बुक दिखाओ वो बुक दिखाओ ये बुक दिखाओ वो बुक दिखाओ और बोले कि भाई तुमने एक्साइज की चोरी किया मैं फैक्ट्री को सील कर दूंगा तो इस तरह से ऐसे गलत कानून बनाओ कि छोटे आदमी का काम करना इम्पॉसिबल हो जाए बड़ा आदमी है वो दो चार का स्टाफ रख देगा या तो उसका वर्ष के सिनारियों के किसी बड़े आदमी को रिश्वत देनी पड़ेगी ये एक तरीका हुआ दूसरा तरीका है जो कि सबसे खतरनाक है वो जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम का है और रेगुलेटरी बॉडी का रेगुलेटरी बॉडी का क्या कि मैं एक पचास हजार आदमी का कंपनी और मैंने देखा कि भाई ऐसी 20, 25, 50 कंपनियां हैं 50 एम्प्लॉय की 100 एम्प्लॉय की जो कि मेरा धन था खा रही या तो या उन कंपनियों को मैं तोड़ दूं खत्म कर दूं तो मेरा धंधा डबल हो जाएगा तो मैं किसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के या एक्साइज के या कोई ऐसे बड़े अधिकारी को बोलता हूं कि ये सब 50 के 50 के खिलाफ तू सबसे गलत जितने भी आते केस ठोक दे तो एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने केस ठोक दिया अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई एक डिपार्टमेंट होता है वो छोटे व्यापारियों के या उस लाइन के छोटे बिजनेसमैन के पीछे हाथ धोके के पड़ जाता है जैसे कि अभी सरकार ने कानून बनाया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बोर्ड ऐसा कुछ नाम देंगे उसको मुझे ठीक से कानून का नाम नहीं पता पर जितने बिल्डर है उनको वो कंट्रोल करेगा तो वो ऐसे उठपटांग कानून बनाएगा कि छोटा छोटा बिल्डर जो है वो शहर छोड़ के भाग जाएगा वो जंगल में रहेगा झोपड़े में रहेगा लेकिन वो कभी बिल्डिंग का काम नहीं करेगा वो ऐसे उठपटांग कानून बना रहे हैं तो और मैं कोई यदि बड़ा बिल्डर हूं और मेरे मुझे आ, छोटे बिल्डरों को खत्म करना है तो मैं उस रेगुलेटरी बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको मैं पैसा दूंगा कि जितने भी छोटे बिल्डर हैं सबकी तू नींद हराम कर दे इंक्वायरी करके उनके ऊपर नोटिस डाल के और छोटी मोटी गलतियां तो होगी तो जो उन्होंने छोटी गलती के उसका बात का पतंगड़ बना दो कि हो सकता है उसकी कोई सौ दो सौ रुपए की चोरी गलती हुई है और उसको खोल दो कि ये तो दस बीस हजार की चोरी थी जैसे ये टू जी स्कैम था तो वो साठ हजार करोड़ का स्कैम था स्कैम था उसमें कोई डाउट नहीं है दस बीस हजार करोड़ की रिश्वत थी लेकिन सीएजी ने क्या कहा सीधा एक लाख सत्तर हजार करोड़ का कर दिया भाई पूरे टेलीकॉम बिजनेस का रेवेन्यू एक लाख सत्तर हजार करोड़ नहीं है कहां से एक लाख सत्तर हजार करोड़ का स्कैम हो गया तो बात का बतंगड़ करना ये अधिकारियों के लिए बहुत आसान काम है वो क्यों किया उन्होंने क्योंकि ए राजा को निकालना था और वो मिनिस्ट्री कांग्रेस को दिलानी थी ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्ट्री से निकाल के वो मिनिस्ट्री सोनिया गांधी के अंडर रखनी थी ताकि सोनिया गांधी ज्यादा पैसा कमा सके इसलिए यदि ऐसा कहते कि बीस हजार करोड़ का स्कैम हुआ तो तो लोग बोलते भाई ऐसे छोटे मोटे स्कैम पे हम क्यों इतना खून बिगाड़े इसमें कुछ चालीस हजार से साठ हजार करोड़ का स्कैम था जिसमें दस से लेकर बीस हजार करोड़ की रिश्वत खोरी हुई होगी और सीधा सीएजी ने उसको बोल दिया कि ये एक लाख सत्तर हजार करोड़ का स्कैम है उसे डबल उससे कई गुना ज्यादा बड़ा कोल स्कैम था तो वो सीएजी ने छोटा कर दिया अफसर के पास दोनों पावर है बात का बदंगड़ भी बना सकता है राय का पहाड़ भी बना सकता है और पहाड़ का राय भी बना सकता है वो अपने रिपोर्ट में तो सीएजी ने 25 लाख करोड़ का स्कैम था वो कम कम कम करते करते एंड में कुछ डेढ़ दो लाख का स्कैम बना दिया कोल को और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ ना प्रधानमंत्री जेल में गया ना को और कोई मिनिस्टर जेल में गया जिसने वो स्कैम किया था तो यदि मैं बड़ी कंपनी का मालिक हूं और मुझे और या तो हम पांच छह लोग मिल गए मेरी बड़ी कंपनी है एक दो बड़ी कंपनी है इस तरह पांच छह कंपनी ने रिंग बना ली तो हम रेगुलेटर को पैसा देके कहेंगे कि जितने लोग छोटे धंधे हैं सब पे ऊपर सच्चे गुटे उल्ट उल्ट पटांग सारे केस डाल दो तो वो सब कोर्ट के धक्के खाने शुरू हो गए अब सेकंड राउंड में आता है जज सिस्टम जज के पास बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर होता है जिसके द्वारा वो रात का दिन और दिन का रात तो नहीं कर सकता ब्लैक को वो व्हाइट नहीं कहेगा व्हाइट को वो ब्लैक नहीं कहेगा तो तो वो एक्सपोज हो जाएगा लेकिन ग्रे है और 99 परसेंट दुनिया ग्रे पे ही चलती है ना व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है मिक्सचर होता है तो कितना ग्रे है वहां उसका डिस्क्रिशनरी पावर हो गया डिस्क्रिशनरी पावर किस तरह से कि एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना या नहीं ये सबसे बड़ी बात होती है यदि मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया तो मुझे सजा नहीं होगी या तो सजा कम होगी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया यानी कि मेरा क्रिमिनल इंटेंशन मान लिया गया तो मुझे सजा ज्यादा होगी और होके रहेगी उसके बाद आता है कि कानून में बहुत सारी वेग चीजें होती है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना उसका इंटरप्रिटेशन में यदि व्यक्ति के फेवर में करता हूं तो उसको कम नुकसान जाएगा उसके अगेंस्ट करता हूं तो उसको ज्यादा नुकसान जाएगा तो इसमें जज क्या करते हैं हमेशा वो देखते हैं कि उसके या उसके रिश्तेदारों की सांठगांठ किसके साथ है मान लो आपके खिलाफ केस है और आप मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं किसी केस किसी दूसरे जज के कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा पर वो क्रॉस नेपोटिज्म करते हैं यानी मैं अपने रिश्तेदार को फेवर नहीं करूंगा मैं बाजू के जज के वकीलों को फेवर करूंगा और वो मेरे वो बाजू का जज है वो उसके भतीजे को मेरे कोर्ट में भेजेगा तो मुझे फेवर करना है तो मैं कानून का इंटरप्रिटेशन उसके फेवर में करूंगा और उसको ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और जज सिस्टम का दूसरा दोष क्या है कि जो लोअर कोर्ट के जज है जो बड़ी कंपनी है मेरी पचास हजार दो लाख लोगों की कंपनी है तो लोअर कोर्ट के जज पूरे देश में फैले हुए हैं तेरह पंद्रह हजार है मैं सबको रिश्वत देके खरीद नहीं सकता मैं सबके रिश्तेदार वकीलों को भी खरीद के अपने पैनल पे नहीं दे सकता लेकिन हाईकोर्ट के जजों की संख्या कम है 600-700 है पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या तो और भी कम है सिर्फ 25 है तो कोर्ट तो जाएगा पहले लोअर कोर्ट में तो लोअर कोर्ट के न्यायाधीशों को मैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा उनको डरा सकता हूं धमका सकता हूं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ यदि मेरी मिली भगत है तो लोअर कोर्ट के जज भी देखेंगे कि भाई ये छोटी कंपनी का मालिक है यदि मैंने उसके फेवर में जजमेंट दिया तो हाई कोर्ट का जज नाराज हो जाएगा हो सकता है मुझे सस्पेंड कर दे मेरी ट्रांसफर कर दे मेरा प्रमोशन रुकवा दे कुछ भी हो सकता है तो जज सिस्टम में हायरार्की होती है हायरार्कीकल कंट्रोल होता है जज सिस्टम बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम है जो लोग सेंट्रलाइजेशन को क्यों सपोर्ट करते हैं हमेशा भ्रष्टाचारी आदमी ही सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ कि मुझे कम लोगों को रिश्वत देके मैं बड़े सेक्टर पे कंट्रोल ले सकता हूं आज मान लो हर एक जज इलेक्टेड हो लोअर कोर्ट का हर एक जज इंडिपेंडेंट हो मतलब वहां पे राइट टू रिकॉल जज है लोग यदि वो जज गलत काम करेगा लोग उसको निकाल देंगे जो कि अमेरिका में अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट जज है उसको लोग चुनते हैं अधिकतर केस में और लोग उसको नौकरी से निकाल भी सकते हैं हाई कोर्ट का जज उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अमेरिका के किसी भी मजिस्ट्रेट की ट्रांसफर भी नहीं करा सकता उसको जेल भेज सकता है यदि उसने क्राइम किया है उसके पास सबूत है तो सीधा जेल भेज सकता है पांच साल के लिए पर सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर नहीं है कि वो किसी गांव के मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर करा सके उसकी प्रमोशन रुकवा सके तो वो मजिस्ट्रेट है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है पर भारत का जज सिस्टम है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है जो 25 सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 600 हाई कोर्ट के जज को कंट्रोल करते हैं और जो 600 हाई कोर्ट के जज है स्टेट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट जज को कंट्रोल करते हैं जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट में जो 35 जज है उसमें से जो 5-6 सीनियर जज है वो गुजरात के 600-700 लोअर कोर्ट के जज है उनको बराबर कंट्रोल में रखते हैं उनकी भूत जो भूत की चोटी पकड़ के रखते हैं ऐसा कहते हैं कि रात को सपने में यदि हाईकोर्ट का जज आ जाए तो बेचारों को पसीना आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी उनको सस्पेंड कर देते हैं कभी भी उनकी ट्रांसफर कर देते हैं मैं उनको उनका प्रमोशन प्रमोशन रुकवा सकते हैं तो यदि डिस्ट्रिक्ट तो जो बड़ी कंपनियों के मालिक है उनकी छोटी कोर्ट के जजों से सांठगांठ नहीं हो सकती क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है पर वो हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिली भगत करके सारे केस में उनके खिलाफ जितने भी केस है उसमें एडवर्स जजमेंट ला सकते हैं एडवर्स जजमेंट यानी उनके खिलाफ छोटी कंपनियों के खिलाफ जजमेंट आए और उसके द्वारा उनका धंधा खत्म कर सकते हैं उनका धंधा हड़प सकते हैं अब ऐसा होता है भाई ऐसा नहीं होता है तो सिस्टम में इस तरह का प्रोविजन क्यों रखा है कि ऐसा हो सके जो मूर्ति पूजक होते हैं मूर्ति पूजक यानी न्याय मूर्ति पूजक भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है खास करके आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से मिलोगे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से मिलोगे तो मूर्ति पूजक होता है मूर्ति पूजक यानी न्याय मूर्ति पूजक न्याय मूर्ति पूजक यानी न्यायाधीशों की पूजा करने वाला वो हमेशा न्यायाधीश को भगवान बोलता है कि भाई न्यायाधीश है वो कभी कोई गलत नहीं करेगा कभी रिश्वत नहीं लेगा कभी अपने रिश्तेदार वकीलों को फेवर नहीं करेगा उसकी कभी वकीलों के साथ सांठगांठ नहीं होती है वो हर कभी पक्षपात नहीं करता ये एक average political science of professor आपको ये गोली खिलाने की कोशिश करेगा क्योंकि आप उनके जितने भी बड़े एस्टेब्लिश पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है जेएनयू में या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखो तो उनके रिश्तेदार बहुत सारे रिश्तेदार जज होंगे या तो बड़े वकील होंगे इसलिए वो इस तरह की गोली आपको खिलाने की कोशिश करते हैं पर वो मूर्ति पूजा को आप छोड़ दो तो जज एक ट्रैफिक कांस्टेबल की मेंटालिटी रखता है और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता अब आप बताओ भारत में कितने ट्रा, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो कि रिश्वत नहीं लेते हैं एक कोई भी अंदर पांच परसेंट नहीं लेते पचास परसेंट आपको जो भी स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा आपको ठीक लगे कि भाई भारत में इतने ट्रैफिक कांस्टेबल है उसमें से भारत में आज की तारीख में कुछ पांच लाख से दस लाख ट्रैफिक कांस्टेबल सॉरी दो लाख ट्रैफिक कांस्टेबल है भारत में आप कोई भी आंकड़ा मान लो कि कितने परसेंट उसमें से रिश्वत लेते नहीं लेते वही प्रोपोर्शन सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में हर जगह है ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है तो अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से बड़ी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों के मिली भगत के द्वारा छोटी कंपनियों को कोर्ट में मार खिला सकते हैं कोर्ट में उनके खिलाफ जजमेंट ला सकते हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा वो धंधा मेरे मैं नहीं बड़ी कंपनी के पास आ जाएगा फिर बड़ी कंपनियां मोस्टली अब तो मल्टीनेशनल रही भारतीय बड़ी कंपनियां तो धीरे धीरे सब खत्म हो रही है कोई भी इंडस्ट्री ले लो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लो तो डाबर को एक जर्मन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया रेड्डी रेड्डी नहीं सॉरी हाँ रेड्डी रेड्डी ब्रदर्स रणबक्शी सॉरी रेड्डी नहीं रणबक्शी को एक जापान की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया पिरामल को एक अमेरिका की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया फिर फार्मास्यूटिकल में इंडियन कंपनियां लगभग खत्म हो गई अब सारी एमएनसी है टेलीकॉम में देखो तो हर एक कंपनी का मेजोरिटी टाइप किसी और के साथ है किसी के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है एयरटेल के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है वोडाफोन तो है विदेशी कंपनी सर से पांव तक रिलायंस की भी पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी है हार्डवेयर सच उसका पूरा टावर का सामान सब कुछ बाहर से आता है किसी भी दिन विदेशी वो कंपनी को खरीद सकते हैं केबल बिजनेस में देख लो तो टाटा स्काई स्काई है वो लंडन की कंपनी है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्काई के कंट्रोल में है टाटा का सिर्फ वो रिटेल के लिए यूज होता है मशीन उसका नाम यूज हो रहा है तो इस तरह से जो बड़ी कंपनियां हैं वो अधिकतर अब मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है तो जस्ट सिस्टम में बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को मैदान से खदेड़ सकती है कैसे कोर्ट के अंदर उनकी पिटाई करवा के जूरी सिस्टम में ये नहीं हो सकता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटी कंपनियों को उभारने के लिए क्यों जूरी सिस्टम जरूरी है और उभारने की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत तरीके से उभारो ये नहीं कह रहा कि बड़ी कंपनियों पे टैक्स डालो उनको लूटो और छोटी कंपनियों को पैसा दो ऐसी मेरी कोई प्रपोजल नहीं है जूरी सिस्टम में पक्षपात का जो स्तर है वो खत्म हो जाता है कैसे खत्म हो जाता है कि जूरी सिस्टम में कोई भी केस हुआ तो एट रैंडम 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जैसे कि ये किसी जिले का वोटर लिस्ट है ये अहमदाबाद के एक जिले का वोटर लिस्ट है गुजरात के एक जिले का वोटर लिस्ट है तो दो आदमियों के बीच या तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और किसी कंपनी के बीच केस है तो एट रैंडम उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम भी डाल सकते हैं 12 लोगों को 12 मतदारों को सिलेक्ट किया गया 12 15 20 25 वो कोर्ट में आएंगे और वो जजमेंट देंगे तो यदि 500 कंपनियों के खिलाफ केस है तो कितने लोग आएंगे 10 या 5 या 15 जज के पास केस नहीं जाएगा 500 खिलाफ कंपनियों के खिलाफ केस है तो 500 गुने 12 यानी करीब 6000 10000 सिटीजन एट रैंडमली सिलेक्ट हो गए और एट रैंडमली अब इनके ऊपर कोई हायरार्की नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोअर कोर्ट का जज है वो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज से डरा हुआ होता है कि सर मैं ऐसा जजमेंट दूंगा तो मेरी ट्रांसफर तो नहीं करा देगा ना वो मुझे सस्पेंड तो नहीं कर देगा ना मेरे को नौकरी तो नहीं छीन लगा ना मुझसे ज्यूरी को तो क्या एक केस के लिए आए हैं सात दिन ज्यूरी में रहे ना उनको कोई सजा नहीं हो सकती और सात दिन के बाद वो कॉमन मैन है वापस कॉमन मैन हो जाएंगे जो उनको दिन की सौ दो सौ रुपए की तनख्वाह मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है उनको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए उनका कोई सस्पेंड नहीं कर सकता उनको कोई ट्रांसफर नहीं होने वाली उनका नाम इतिहास में नहीं आने वाला हाईकोर्ट लोअर कोर्ट के जज को यह भी होता है कि हाईकोर्ट का जज के इशारों पे यदि मैं नाचूं वो बोले दिन तो दिन वो बोले रात तो रात तो मेरे को प्रमोशन दिला देगा मजिस्ट्रेट से मेरे को डिस्ट्रिक्ट जज बना देगा डिस्ट्रिक्ट जज से मेरे को हाईकोर्ट का जज बना देगा ज्यूरी को कोई लालच नहीं है तो वो सिर्फ उसको शायद बड़ी कंपनी का मालिक एक ज्यूरी को खरीद ले दो ज्यूरी को खरीद ले दस ज्यूरी को खरीद ले पर वो 500 ज्यूरी को नहीं खरीद पाएगा क्योंकि ज्यूरी पूरे देश में बिखरी हुई है कश्मीर से कन्याकुमारी गुजरात से आसाम तो इतने सारे हजारों ज्यूरी को एक आदमी नहीं खरीद सकता एक बड़ी दस बड़ी कंपनियां मिलकर पच्चीस सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद सकती है लेकिन 10 बड़ी कंपनी क्या 100 बड़ी कंपनियां मिलकर भी पूरे देश की 2 लाख ज्यूरी को नहीं खरीद सकती क्योंकि 2 लाख ज्यूरी पूरे देश में बिक्री हुई है उनकी संख्या हो गई 2 लाख गुना 12 यानी 24 लाख तो उसकी वजह से जब छोटी कंपनी के खिलाफ रेगुलेटर फिर वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन हो या एक्साइज इंस्पेक्टर uh, हो या लेबर इंस्पेक्टर हो या पीएफ के वो जब गलत केस करके उनको दबाने की उनका धंधा बंद कराने की कोशिश करेंगे तो ज्यूरी उनको सक्सेस नहीं होने देगी जूरी साफ साफ कहेगी कि भाई ये तो एकदम छोटा क्राइम है हजार दो हजार का फाइन होना चाहिए ये क्या कंपनी बंद कराने पे तुले हो या तो ये फाइन ही नहीं है साफ साफ बोल देंगे और ज्यूरी के केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यूरी एडवर्स उल्टा जजमेंट देती है कि इस अधिकारी को नौकरी से निकालो कि उनको लगे कि ये अधिकारी ने जानबूझ के गलत केस फाइल किया है अफसर को हैरस करने के लिए तो अधिकारी की नौकरी जाती है इसलिए अधिकारी खुद गलत केस फाइल करने से डरता है तो इसमें जो 500 कंपनी का मालिक है उसका धंधा टिका रहेगा अदालत उसको नहीं खा पाएगी जज उसको नुकसान नहीं कर पाएगा और रेगुलेटर उसको नुकसान नहीं कराएगा बड़ी कंपनी का कैसे नुकसान करता है रेगुलेटर को पैसा देके देखो ये चैनल आपको मैं दोबारा रिपीट करूंगा ये समझने जैसा चैनल है कि बड़ी कंपनी का मालिक कभी खुद हाथ में डंडा लेके छोटे कंपनी के मालिक को पीटने नहीं आएगा वालमार्ट को यदि छोटी दुकानें बंद करानी है तो वालमार्ट का चेयरमैन डंडा लेके छोटी दुकानदारों को पीटने नहीं आने वाला वो एमपी को रिश्वत देके ऐसे कानून बनाएगा टैक्स के कानून डिस्क्लोजर के कानून फाइलिंग के कानून कंज्यूमर अफेयर्स के कानून कि छोटी कंपनियों का जीना हराम हो जाए और बाद में वो रेगुलेटर को पैसे देके उनके खिलाफ केस फाइल कराएगा फिर वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो एक्सेस बोर्ड हो उनके खिलाफ बीसीओ केस फाइल कराएगा और थर्ड राउंड में वो जज को पैसे देके उनके खिलाफ जजमेंट लाएगा और इससे उनके धंधे एक के बाद एक के बाद एक बंद होने शुरू हो जाएंगे वो कभी खुद मैदान में नहीं आएगा खुद मैदान में आएगा तो न उसके पास इतनी ताकत है कि उसके पास ये दो ही हाथ है पचास बीस हजार हाथ तो है नहीं और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी सबको वो पीटता फिरे वो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करके छोटे उद्योगों को बंद कराने की कोशिश करेगा अब जूरी सिस्टम में उसकी कोशिश नाकाम हो जाएगी क्योंकि कोर्ट के अंदर यदि जब उसको छोटी कंपनी को मार खिलानी होगी कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ जजमेंट लाना होगा तो पूरे देश में हर एक केस उसने एक कंपनी बंद कराने से तो कुछ मिलेगा नहीं मेरी एक 500 आदमियों की कंपनी है अब मेरी एक 50,000 आदमियों की कंपनी है मान लो और मैं 100 कंपनियों से कंपटीशन कर रहा हूं कोई किसी का 50 साल कोई किसी का 50 का स्टाफ है किसी का 5 का स्टाफ है किसी का 200 का स्टाफ है तो मैं दो चार कंपनी को बंद करा के क्या मिलेगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा यदि मैं 50 60 70 परसेंट कंपनियों को बंद करा दूं तो ही मुझे कुछ फायदा है तो यदि मैं एक ज्यूरी को खरीदू दस ज्यूरी को खरीदूंगा तो दो पांच कंपनियां मैंने बंद करा दी तो मुझे मिला क्या कुछ नहीं मिला और यदि मुझे सौ में से सत्तर अस्सी नब्बे कंपनियों को बंद करानी है तो मुझे सैकड़ों ज्यूरर को खरीदना पड़ेगा जो कि मुमकिन नहीं है तो इस तरह से शायद सौ की सौ शायद हजार की हजार छोटी कंपनियां हम ना बचा पाए लेकिन 95, 98, 96 परसेंट स्मॉल एम्प्लॉयर बच जाएंगे जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क यह है ज्यूरी सिस्टम यह नहीं कहता कि 100 परसेंट केस में जस्टिस देगी लेकिन जज सिस्टम है वो hardly two three percent case में जस्टिस देती है बाकी सब मिली भगत से ही होता है जबकि ज्यूरी सिस्टम में तीन चार परसेंट केस में कंफ्यूजन या मिली भगत भी बोल सकते हो जो भी बोलो उसकी वजह से इनजस्टिस हो जाए बाकी नाइन्टी सिक्स परसेंट केस में फेयर जजमेंट आता है और इस तरह से छोटी कंपनियां टिक जाएगी और इंजीनियरिंग का इंप्रूवमेंट है जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वो छोटी कंपनियां ही करती है फिर अमेरिका हो या यूरोप हो या आज से 100 साल पहले की दुनिया हो या आज की दुनिया हो या आज से 2000 साल पहले भी जितने छोटे छोटे इनोवेशंस हुए हैं वो आप देखोगे कि छोटे लोगों ने किए और फिर कब बड़े लोगों ने किए वो छोटे लोग जब बड़े हुए तब उनमें से जैसे थॉमस अल्वा एडिसन वो एक लैब टेक्नीशियन था उसने एक इनोवेशन किया दूसरा इनोवेशन किया उसका बिजनेस प्रोटेक्ट हुआ और बिजनेस बढ़ा उसके बाद एक बार वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया उसने करोड़ों रुपए के फैक्ट्रियां डाली, इनोवेशन किया, बहुत सारा काम किया उसने। पर वो जब छोटा था, एक लैब टेक्नीशियन या तो उसके दो चार एम्प्लॉय की जब उसका यूनिट था, तब मान लो किसी एक्साइज इंस्पेक्टर ने या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले ने स्टे ऑर्डर लाके उसका यूनिट बंद करा दिया होता तो वो कभी बड़ा हो ही नहीं पाता तो उसने जितने साइंटिफिक इनोवेशन किए डिस्कवरी की वो एक भी नहीं कर पाता तो इस तरह से आ, जो छोटे आदमी को बचा सके वैसी संस्था एकमात्र जूरी सिस्टम है तो मैं समराइज करूंगा मैंने मिलिट्री के कमजोरी आपको एक्सप्लेन की कि हमारी सेना कितनी कमजोर हो चुकी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब तो हमारे सामने है कि चीन पांच किलोमीटर देश के भीतर घुस आया है अब चीन की सेना हमें इतनी डरा धमका सकती है तो अमेरिका की सेना तो चीन की सेना से 20 25 50 गुना ज्यादा 20 गुना ज्यादा पावरफुल है चलो 50 गुना नहीं तो 20 गुना ज्यादा पावरफुल है वो हमारा क्या हाल करेगी दूसरा कि हमें ये भूल जाए ये एंथोनी और बहुत सारे नेता ये प्रपोजल ला रहे हैं कि हम अमेरिका की कंपनियों को या तो जापान की कंपनियों को भारत में लाओ और जापान की कंपनियों को बोलो कि हथियार बनाए तो जापान है वो अमेरिका से थोड़ा कम खराब है लेकिन आप गूगल कर लो कि जापान ने चीन पे कितना दमन किया तो आपको पता लगेगा कि जापान किसी भी एंगल से अंग्रेजों से कम नहीं था एक देश अपने देश में अच्छा होता है अमेरिका की सरकार अमेरिका में अच्छी है ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में अच्छी है लेकिन वो देश की सरकार जब दूसरी देश का कंट्रोल ले ले तो सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती है कंट्रोल लेने तक अच्छाइयां रहती है कंट्रोल आ जाए तब अच्छाइयां खत्म हो जाती है और उसका एग्जाम्पल मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं कि आप गूगल कर लो कि जापान ने चीन पे कितने अत्याचार किए थे उन्नीस सौ 20 और 1945 के बीच में तो हम ये कहें कि जापान की कंपनियों को भारत में बुलाओ और जापान की कंपनियों को बोलो कि हथियारों का उत्पादन करे वो ठीक बात नहीं है हमें सारे मेड इन इंडिया और made by Indian Indian engineer Indian technician Indian labour Indian scientist वो हथियारों को उत्पादन करे वही हथियार भारत के काम में आएगा इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं है उद्योगपति है भाई उद्योगपति यदि काम नहीं कर पाता तो इंजीनियर को क्या एम्प्लॉयमेंट देगा या तो इंजीनियर है वो तो सेल्समैन बन जाएगा या तो देश छोड़ के भाग जाएगा फर्क क्या पड़ा मतलब सेल्समैन बन जाता है तो भी country lost a good engineer और अमेरिका भाग गया तो भी देश को एक इंजीनियर नहीं मिला और वो मान लो रुका तो करेगा क्या जब इंजीनियरिंग फैक्ट्रियां ही नहीं खुल रही फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल रही क्योंकि एक आदमी फैक्ट्री खोले तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आ जाता है पैसे मांगने के लिए एक्साइज वाला आ जाता है प्रोविडेंट फंड वाला आ जाता है बीसीओ लोग आ जाते हैं और कुछ कुछ लोग पैसे लेने के लिए नहीं आते सिर्फ फैक्ट्री बंद कराने के लिए आता है ये बड़ी प्रॉब्लम है वो क्यों फैक्ट्री बंद कराने के लिए आते हैं क्योंकि कोई बड़ी कंपनी का मालिक है जिसके अंडर में पचास हजार एम्प्लॉय मल्टीनेशनल कंपनी है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बाड़े वाले को बोल दी है कि मुझे ये फैक्ट्री बंद करानी है वहां जाके यदि तूने पैसा लिया या फैक्ट्री चालू रखी तो मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा फैक्ट्री बंद करा क्या तो वो जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन आता है छोटी फैक्ट्री के अंदर तो उसको पैसा लेना ही नहीं है क्योंकि सामने वाले ने उसको बोल के रखा है कि तूने फैक्ट्री बंद नहीं कराई तो मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा तो छोटी कंपनी का मालिक उसको रिश्वत देने को तैयार होता है कमाया सौ रुपया कमाया तो चलो नब्बे रुपया कमाऊंगा दस बीस रुपया दे दो इन कुत्तों को पर वो सीधा फैक्ट्री बंद कराने पे तुला होता है कहीं कहीं जगहों पे तो ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का बोर्ड लाइसेंस ही नहीं देता क्लियरेंस ही नहीं देता तीन तीन साल तक लटकाए रखता है एप्लीकेशन को एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा और फिर आप क्या फैक्ट्री शुरू करोगे फिर उसके बाद एक और कानून ला दिया कि जमीन लानी है तो ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा अब ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड में ये मधु कोड़ा जैसे भ्रष्ट आदमी आएंगे ऐसा तो है नहीं कि साधु साधु संति आएंगे सब तो इतने सारे अलग अलग बोर्ड से क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि उद्योगपति कभी वहां पर उद्योग खोल ही नहीं पाएगा तो इस तरह से गलत कानून और गलत अदालत हम्म? हाँ और फिर जब फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी तो इंजीनियर क्या करेगा कॉलेज से पास हुआ एक दो साल इधर उधर गया काम नहीं मिला उसको तो फिर वो भाग जाएगा विदेश तो विदेशी कंपनी और पावरफुल हो जाएगी क्योंकि उसको टैलेंटेड आदमी मिल गया तो नो डाउट एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है पर एजुकेशन को हम ओवर एस्टिमेट ना करें ये ना कहे कि अच्छा एजुकेशन देंगे तो अपने आप उद्योग आगे बढ़ेगा ऊपर से उल्टा होता है जहां पे उद्योग ज्यादा होते हैं वहां पे लेबर होता है इंटेलिजेंट लेबर वो खुद एजुकेशन लेना शुरू कर देता है और वो इंजीनियर के कैपेबल हो जाता है पूरी दुनिया के देशों में बहुत सारे आपको अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था उन्होंने एक टेक्नीशियन की तरह काम किया था और उनमें बुद्धि थी धीरे धीरे उन्होंने खुद एजुकेशन लेके वो इंजीनियर भी बन गए इंजीनियर तो क्या वो साइंटिस्ट भी बन गए पर उनको काम करने का मौका मिला खुद उन्होंने काम किया या तो किसी काम करने वाले ने उसको नौकरी पे रखा और उसको काम करने दिया इन शॉर्ट वो खुद काम करे खुद फैक्ट्री खोले या तो कोई ऐसा आदमी जो कि फैक्ट्री खोल रहा है उसके वहां उसको नौकरी मिले तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी हम गलत कानून बनने से रोके वो कैसे वो मैंने टीसीपी में एक्सप्लेन किया ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर और अदालत के अंदर आता है ज्यूरी सिस्टम इसलिए हमें जज सिस्टम खत्म करके भारत में ज्यूरी सिस्टम लाना चाहिए धन्यवाद